नाथ बागर मैं दो भाई प्रीति रही कछु करणी न जाई मैं सुख माया भी तेरी नाऊ प्रभु हमारे गाँव अर्ध राति पूरी द्वार पुकारा बाली रिपुबल सही न पारा काली देख भागा मैं पुन गय बंधु संग लागा गिरी पर गुहा पैठ सो जाई Krishna Thank you. बातें सुनाई उनके चरित्र का वर्णन करते हुए भगवान राम के बल का भी वर्णन किया भगवान राम कैसे महान शक्तिशाली है जनकपुर में सीता जी का जो वर्ण हुआ राजा लोग आए थे वो सबके सब पराजित हो गए भगवान राम ने धनुष किया इत्यादि वो सब घटनाओं का वर्णन लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के सामने किया बन में आने की भी बात कही देखो वहां पर माता ने इस प्रकार से बरदान चाहा पिता ने इस प्रकार से बन भेजा वो सबकी कथा सुनाई सुग्रीव से पूछा कि तुम अपनी कथा बताओ कि कैसे क्या हुआ तुम्हारे जीवन में क्या घटना है कैसे घटी तुम्हें बनने यहाँ पर पर्वत का आकर के क्यों रहना पड़ा <coughs> ये सब उन्होंने सुग्रीव से भी पूछा <coughs> तो सुग्रीव ने सब अपनी कथा स्वयं अपने मुँह से वर्णन की ऐसा नहीं किया हनुमान जी से कभी और कहा कि तुम उनको बताओ ऐसा करके नहीं हुआ अब देखो दोनों तरफ तुलना करो तो जो दोनों तरफ समस्याएं एक सी हैं जो भगवान राम के साथ है वही सुग्रीव के साथ भी है भगवान राम का राज्य का त्याग वो भी एक प्रकार से राज्य के कारण से और भाई भाई के बीच में जिसके के कारण से भेद उत्पन्न हो सकता था लेकिन भगवान राम ने उस भेद को उत्पन्न होने नहीं दिया बनने आना स्वीकार किया लेकिन भाई भाई की समस्या बाली और सुग्रीव की भी है और राज्य को लेकर के है स्त्री को लेकर के है लेकिन उसको लेकर के हुए तो इन दोनों के बीच में बैर हो गया हम्म। अब ये देखो कि अब ये जो व्यक्तित्व की ही महानता के सूचक थे कि अब भगवान राम में जैसे समस्या आती है लेकिन उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं उस समस्या को पेश कैसे करते हैं और इनको देखो ये बाघ और सुग्रीव के सामने भी मानव किसी प्रकार की समस्या आती है और वो उसका सामना कैसे करते हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसे होती है बस यही शास्त्र दिखाना चाहता है कि देखो जीवन का सही रास्ता क्या है किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए <clears throat> क्या सही रास्ता है और क्या गलत रास्ता है और गलत रास्ता कहाँ से आ जाता है हम्म? जहाँ व्यक्ति में काम को रोज आ जाए तो उनसे बसीबूत होकर के व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है अगर उनसे छुटकारा रहे शुद्ध हृदय शांत रहे तो फिर वो सही रास्ते पर चल सकता है और सही रास्ते पर चलने में ही शांति विश्राम कष्ट नहीं हो लेकिन दुख नहीं लेकिन गलत रास्ते पर चलने में व्यक्ति को ये भले लगे कि उसमें हमको कोई कष्ट नहीं है लेकिन दुख जरूर होगा उसके <clears throat> ये दोनों की तुलना करते हुए देखते जाए माने दोनों के व्यक्तित्व दोनों प्रकार के दोनों में कई बातों में आपको लगेगा अंतर दिखाई देगा एक और भगवान राम है और ये भाई लोग हैं दूसरी ओर सुग्रीव है और उसका भाई है और इनके इनकी करनी रहनी किस प्रकार से है अब वो सुग्रीव अपने मुख से स्वयं कहता है कि नाथ बाली और मैं दो भाऊ भाई कहते हे नाथ बाली और मैं दोनों भाई भाई मैंने सगे भाई और प्रीत रही कभी धर्म में जाई और तो हम दोनों में बड़ा प्रेम भी था जिसका क्या वर्णन किया जाए भाइयों भाइयों में बड़ा प्रेम था जैसे भाइयों भाइयों में होता है उस प्रकार का प्रेम था भी अब ये दोनों भाई सुग्रीव और बाल ये दोनों जो है वो हो एक ही पिता के पुत्र हैं ये एक ही माता के पुत्र हैं वैसे दोनों में जो है ये अंश भिन्न भिन्न है ये बाल जो है उसमें इंद्र का अंश है देवताओं में से और जो सुग्रीव है उसमें सूर्य का अंश सूर्यदेव है उसमें तो इंद्रदेव और सूर्यदेव ये दोनों ही बाली और सुग्रीव के रूप में आए लेकिन सुग्रीव सूर्य का अंश है और भगवान राम का भी सूर्यवंश है तो वो कैसा संयोग बनता है तो वो सूर्य के का अंश होने के कारण सुग्रीव में भगवान राम के प्रति लगाव प्रेम अपने वंश के जैसा अपने तन जैसा भाव आता है जान करके आवे या अनजाने में आवे कुछ प्रभाव उसका दिखाई देता है लेकिन इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है और वो अपने आप को सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली समझता है सूर्य क्या होगा उसके सामने सूर्य तो एक अधीनस्थ देवता है उसका भी राजा जो है इंद्र है इंद्र राजा होने के कारण से एक बात और उसके साथ में है कि वो अभिमानी है अहंकारी है उसका आगे स्पष्ट हो जाएगा उसके स्वभाव का वर्णन कि वो कैसे अहंकारी कैसा है और उस अहंकार के कारण बाल में धर्म से विपथगामी होने का भी कारण बन जाता है अहंकार भी है और उसमें काम क्रोधाद भी आ जाते हैं ये तीनों पहले व्यक्ति में अहंकार होगा अहंकार होगा तो काम क्रोध भी आएंगे काम क्रोध आएंगे तो धर्म को छोड़ करके <clears throat> धर्म से विमुख होकर के भी व्यक्ति आचरण करेगा कितनी बात को अच्छी तरह से याद करके रखनी चाहिए रट करके ये धर्म के संबंध में इतनी बातें हैं इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि यह काम क्रोध के वसीभूत न हो उसे चाहिए कि अहंकार से बचा रहे अहंकार नष्ट न हो तो भी सावधान रहे कि अहंकार कम से कम रहे दुर्बल रहे जहाँ ये सर उठाने लगे तहाँ इसको दबाने की कोशिश करके समझे अहंकार को गुण करके न माने काम क्रोध को गुण करके न माने ये समझें कि ये अपने हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं तो ये विकार हैं दुष्ट हैं दोष हैं ये हमारे ही विनाश के लिए उत्पन्न हो रहे हैं ये भाव बराबर ध्यान में रखते बाली के साथ देखोगे यही समस्या उसके साथ में है किसी के कारण से अहंकार के कारण से और काम क्रोध के कारण से अधर्म की तरफ भी करा जाता है और जहाँ अधर्म में व्यक्ति पड़ा तहाँ वो भेद उत्पन्न हो जाता है झगड़ा कर तो किताब लड़ाई मार काट ये सब तो सब उसी अधर्म के परिणाम है धर्म होगा तो शांति बनी रहेगी प्रेम बना रहेगा सहयोग बना रहेगा इस बात को पहचानने की कोशिश करें देखो कथा प्रसंग ये उदाहरण है <clears throat> हमारे सामने कि किस प्रकार से बाली ने कैसे अहंकार किया उसका परिणाम क्या हुआ बड़े ही इंद्र हो लेकिन भगवान राम ने उसको भी माफ नहीं किया और मार दिया उसका परिणाम भी बाली के सामने आया हालांकि इंद्र आया था इसलिए कि भगवान के उनके ब्रह्मा जी के कहने से कि वो भी शरीर धारण करके आएगा भगवान राम की लीलाओं में सहायता करेगा लेकिन वो सहायता वहायता नहीं कर पाया अपने अहंकार के कारण भगवान ने उसको अपनी लीला के जो क्षेत्र था लीला का क्षेत्र भगवान का था उनकी लीला चल रही थी उसमें से निकाल बाहर किया आउट कर दिया हम्म। बाकी और लोगों को अपने लीला के क्षेत्र में रखा तो देखो भगवान के का जो लीला चल रही है उसमें सम्मिलित रहे कोई व्यक्ति तो धर्म पारायण होकर तभी रहेगा भगवान का भक्त होकर तभी रहेगा नहीं तो उसे आउट होना पड़ेगा तो ये कहते हैं नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कछु भरण न जाई बड़ा प्रेम था दोनों में और मैं सतमाया अभी कहीं ना हूँ सर कहते हैं कि देखो एक बार की घटना आपको बताते हैं क्या हुआ कि मैं नाम का एक दानो था उसका उसका पुत्र था मायावी कहीं नाम उसका नाम था माया भी आवा से प्रभु हमारे गाँव हे प्रभु प्रभु संबोधन हे प्रभु सो वो जो है माया भी हमारे गांव में आया किशनधा <clears throat> नगरी में वो आया अब ये मायावी जो है इसका नाम है एक निशाचर है दैत्य है इसका नाम है मायावी जैसे मायावी बनी जो माया करें सभी राक्षस मायावी होते हैं <clears throat> लेकिन ये ये मायावी तो सही है <clears throat> क्योंकि निशाचर है लेकिन उसका नाम भी मायावी है हाँ, ऐसा हुआ इसलिए ये कहना पड़ा कि मायावी कई नाऊ ये मैं समझना कि कोई राक्षस आया कि मायावी था स्वभाव से विशेषण है ये मायावी ये मायावी विशेषण नहीं संज्ञा है इसलिए कहा ये उसका नाम है ये मायावी नाम का तो निशाचर है और ये मैं का पुत्र था मैदानों के भी दो पुत्र हुए एक था मायावी दूसरा था दुंदुवी दिल्ली हम्म। तो की हड्डियों की बात आगे आएगी लेकिन बाकी कथा पक्ष में रही ज्यादा बातें जिंदगी के संबंध में प्रसंग में नहीं आती लेकिन मायावी की कथा तो आई जाती है कि मायावी जो वो हो बाली से लड़ने आया लेकिन ये बताने के लिए मायावी क्यों आया ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे पहले इसका एक भाई था उसका नाम था धुंदुभ ये मैं के दोनों पुत्र थे और मैं जाने की पुत्री भी थी मैं कन्या मंदोदरी नामा हम्म? यही तो वो भी देखना बालकांड में कथा आ चुकी उसकी कि मैदानों था उसके पुत्री थी उसका नाम मंदोदरी था और मैंने देखा कि मंदोदरी जो है वो है इसके लिए बल ढोड़ो तो ढूंढते ढूंढते उसको पता लगा कि रावण इस समय जो है ये ऐसा हमारे निशाचर वंश का है कि जो ये बहुत बढ़ रहा है और आगे चल करके ये ऐसा राजा होगा जो तीनों लोगों का स्वामी होगा इसलिए इसी के साथ विवाह करते तो ऐसे सोच करके मैदानों में मंदोदरी के विवाह रावण से <clears throat> तो अब ये भी समझो ये मंदोदरी के भाई थे दोनों दुमदो भी और माया भी तो अब इन लोगों का भी वंश का इतिहास जन्म निशाचरों का भी तो इधर के वो <clears throat> ये खजूषण भी रावण के भाई थे और ये भी ये किस किस प्रकार से कैसे कैसे इन सबके संबंध थे ये ध्यान रखते हैं तो कथा संबंध में समझने में बात को सहायता आसानी हो जाती है जंगोवी <clears throat> जो था ये है कि ये इसमें एक हजार वर्ष तक तपस्या की अब दिशाकर लोग तपस्या करते तपस्या करते तो बड़ा बल आ जाता है जब बहुत बड़ी हो गए तो अब अपने बल का दुरुपयोग करने लगे अरे तपस्या करना अच्छा है और बल की वृद्धि करना अच्छी है लेकिन जब व्यक्ति में शारीरिक बल बौद्धिक बल मानसिक बल आ जाए तो उसको किसी महान कार्य में परोपकार के कार्य में आध्यात्मिक कार्य में शक्ति को लगाना चाहिए अगर वहाँ नहीं लगाता तो फिर उसकी व्यक्ति की वो शक्ति दुरुपयोगी कार्यो में लगती है पर पीड़ा में लगती है लोगों को बड़ा मजा आता है अपने आप में बड़ी ताकत है तो दूसरे के बाद धक्का मार हाँ? ऐसे ही मस्तिष्क न कुछ लगता है दूसरे को जब दुनिया अपरू हाय हाय करे लड़ने की हिम्मत न पड़े कुछ न कुछ कर दे तो ये जब व्यक्ति में शक्ति होती है तो वो दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके सुखी होने का जो स्वभाव व्यक्ति का है ये निशाचरी स्वभाव है अब उसमें जब शक्ति बहुत हो गई तो दुंदुबी ने क्या किया दुंदुबी ने सोचा कि सबसे शक्तिशाली कौन है लोगों से पूछा कि दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है तो किसी ने बता दिया अरे समुद्र की शक्ति के सामने किसी की शक्ति नहीं समुद्र बड़ा विशाल है बहुत शक्ति उसकी तो ये जो था ये थोड़ा भैंसे का रूप था इसका जिंदगी का तो ये अपने सीधों को नोकदार सी फिर हिलाता हुआ समुद्र के किनारे पहुंच गया और समुद्र को ललकारा ध्यान से युद्ध करेंगे अरे अब समुद्र ने समुद्र निकला समुद्र में से जैसे भगवान राम के पास आ गया जो समुद्र पार करने लगे तो वो आ गया कैसे तो समुद्र डर के मारे उसके सामने आया और कहने लगे <clears throat> कि भाई तुम बहुत शक्तिशाली हमने मान लिया और हम तुमसे लड़ने योग्य नहीं है किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ो हम तुमसे हार माने तब वो वहां से चला चुका तो हमसे तुमसे शक्तिशाली कौन है बताओ उससे लड़े तो उसने कह दिया कि तुम जाओ लड़ो जा करके देखो हिमालय पर्वत बड़ा सिर उठाए खड़े हुआ है हाँ? इस हिमालय पर्वत तो बड़ा शक्तिशाली है बड़ा कठोर तो भी हम क्या तरल पालेंगे ऐसे लुड़के लुड़के नीचे गड्ढे नहीं पड़ेंगे उसको देखो हमारे पर्वत से उठाए हुए कितना उनका खड़ा हुआ जाओ चलो ले जा के तब तुम्हें पता चलेगा तो वो भी दौड़ा दौड़ा कर कहा समुद्र कहाँ पहुंचा जाए हिमालय पर्वत पर हिमांचल को ललकारा जा करके आगे हम तुमसे युद्ध करेंगे हिमांचल ने उसे हाथ जोड़े कहेगी भाई तुम बड़े शक्तिशाली हो हम तुमसे कहाँ लड़ेंगे हम तुमसे जीत नहीं पाएंगे तुम जो है देखो एक क्षण मात्र में कहा समुद्र कहाँ तुम यहाँ आ गए और हमसे चला चला भी नहीं जाता विशाल शरीर जरूर हमारा है लेकिन हम चल फिर नहीं पाते तुमसे क्या लड़ेंगे हम तुमसे तब तो हटा बताओ तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है तो उसने कह दिया हिमांचल ने कि आजकल जो है सबसे शक्तिशाली जो पृथ्वी पर है वो बालू है तुम उसके पास जाओ वो तुम्हारे जो है तुम्हारा जो बल का गर्व तुम्हारा है और जो तुम्हारा हाथ पाए तुम्हारे गौरिया रहे हैं तो उनसे दबाव करेगा इलाज वो है तुम्हारे लिए बाल के पास जाओ तब वो भागा भागा आया किस सिंधा नगरी में बाल के पास और बाल के पास आकर के ललकारा करते है बाल तुम्हारा दुनिया भर में सबसे आगे सब सारी तो अपने आप को समझते हो तो अपने बराबर किसी को नहीं समझते आओ मुझसे बाल अब तुम्हें सुना होगा जैसे पहलवान लोग हैं जिंदगी आजकल भी बजाते हैं कि जिसको लड़ना है जिससे लड़ लो हम्म? मैं विश्व विजयी हूँ इस प्रकार से वो अपना विश्व विजयी बनने के लिए बाल के पास आए <clears throat> बाल की उससे फिर बाली अब ये देखो आगे ये कहते हैं ये <clears throat> कि अर्धरात्रि अर्धरात्र गुरुद्वार पुकारा बाली ऋतुबल सहे न पारा बाली अपने अहंकार के कारण से उसका स्वभाव था कि सत्र की ललकार को सही नहीं कर सकता आजकल भी जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति हो तो सुधरा साहब कहते तुम क्या अकल दिया तुम फिर देखो कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ और जितनी ताकत होगी वो सब अपनी लगा देगा तो चैन नहीं कर सकता उसको अहंकारी हाँ? <clears throat> ये सब बातें स्वयं अपने आप जो ये अपने कल्पना करके अपने मन में देखने की बातें हैं व्यवहार में भी अपने देखो पुरानी पुरानी कथाई कथा बस ही करो उस कथा को लेकर के वर्तमान काल में उसको अप्लाई करके भी देखते रहो अपने आस पास अपने आप में अपने को देखो अगर हमें कोई योकार दे तो हमारे मन में कैसा भाव आता है लड़ने को तैयार हो जाएंगे अच्छा ऐसे उसको बाली को इस प्रकार के था बाली लड़ने को तैयार हो गया और दोनों में फिर लड़ाई हुई बाली की बालकी और गुंडवी की लड़ाई बहुत दिनों तक हुई ये लोग इनकी लड़ाई जो होती थी बलवान लोग ऐसा नहीं थे कि ये घंटे दो घंटे लड़ते हों लड़ा करके उनकी दम खत्म हो जाती है आजकल के देखो भी कभी कभी ये रश्मि होती है इन पहलवानों की खैर बाद होते हैं एक दूसरे की लड़ाई उनकी होती चलती है चलती है कोई कुछ कोई आधे घंटे कोई घंटे भर एक दूसरे को मारते मारते कूदते उनकी दम खुल जाती है और उसके बाद जहाँ दम खुल गई जहाँ बस वो दूसरा व्यक्ति उनको मार मार के गिरा देता है जिसको जिसकी की दम ज्यादा होती है ऐसी करके जिनमें दोनों में लड़ाई हुई और बरसों बरसों लड़ाई करी लड़ते गए लड़ते गए भजन अंत में बाले में एक बार जो जैसे ही जो है जुम्बे में थोड़ी शिथिलता आई उसको दोनों सींग उसके पकड़ करके चारों तरफ उसको घुमाया और जमीन के ऊपर उसे पटक दिया तो पटक करके उसके ऊपर कूद पड़ा बालिश के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर और मार पैरों मार उसको खूब पकड़ा और उसके बाद में आसपास कोई पत्थर मिल गया तो उस पत्थर से उसके शरीर को कूचा पेड़ और उखाड़ करके उससे भी उसके शरीर को खूब कूचा जब वो मरण कुंड हो गया इतनी जल्दी मरा नहीं पत्थर से मारने से मरण कुंड काफी हो गया वो तब उसको फिर से उठा करके उसको पैर पकड़ करके उठा करके बहुत दूर ट्रेन तो गिरा तो गिरा जा करके एक योजन दूर जा करके वो गिरा जाता बहुत दूर जा जब वो गिरा जा करके तब उसके शरीर के बड़े ऊपर से गिरा जा खजाता हुआ उसका खून उसके शरीर का निकल करके छीटे उन्हें बड़ी दूर तक और वो छीटे जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के गिरी और उसका शरीर भी मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के गिरा तो तमाम पेड़ मतलब उसके आश्रम के तमाम पेड़ गिर गए उसके शरीर गिरने से और उसके शरीर का जो खून निकला वो सब उनकी कुटिया उठिया भी जाकर के गिरा मतलब ने कहा कि ये कौन किसने उसको फेंका अपने साचक को यहाँ और सब विध्वंस हो गया हमारा आश्रम बारिश ने उद्दंडता की तो उन्होंने ये साथ दे दिया कि यदि जिसने की अपराध किया हो वो अगर उसमें आश्रम में आता है तो उसका सिर्फ निधन हो जाए के कारण लोगों ने आकर के बताया आकर के बाली को मतंग ने उसने साथ दे दिया तुमको इस प्रकार से अगर तुम गए वहां उस करने और ऋषि पर्वत पर उनके आश्रम पर तो तुम्हारा ग्रह तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा तुम्हारा युद्ध युद्ध उनसे कुछ नहीं होगा तुम्हारा वैसे ही छुट जाएगा ये भी साथ दे दिया अगर उसके सहायक आते हैं इस पर इसके ऊपर तो वो उनके शरीर पत्थर हो जाएंगे ऐसे साथ दे दिया तो बाली को जब मालूम हो गया कि ये घटना इस प्रकार की है <clears throat> तो फिर वो ऋषि पर्वत पर नहीं जाता था लेकिन बिंदु भी तो इस प्रकार से मारा गया लेकिन बिंदु भी का भाई जो मायावी था <clears throat> उसको ये हुआ कि और निशाचर लोग कहने लगे वाह तुम बड़े शक्तिशाली बनते थे तुम्हारे भाई को मार डाला बाली ने और तुम कुछ नहीं कर पाए उसे तो ये भी नहीं हुआ कि तुम अपने भाई की सहायता करते और बाली से बाली को जाकर के उसे बदला लेते वो भी तुमसे नहीं हुआ निशाचर समझते इस प्रकार से चलाने लगे तो मायावी ये तो समझ गया मायावी की बाल में बड़ी ताकत है और बिंदु जब मारा गया तो बिंदु से ज्यादा हमारी शक्ति नहीं है लेकिन वो अपनी किस्मत पटाने के लिए एक उपाय उसने सोचा कि बाल से लड़ना भी न पड़े और बाल को हम पराजित घोषित भी कर दें अब देखो उसने क्या किया मायावी ने <coughs> मायावी ने क्या किया कि रात पर द्वार पुकारा कि आधी रात में वो पहुंचा वहां पर <coughs> उनके यहाँ पर बालू के दरवाजे पर नगर में आया और बालू के फाटक पर पहुंचा और वहां पर उसने लुटकारा ए बाल तुमको लड़ना हो तो आ जाओ इस प्रकार से चिल्लाया गर्जना की उसने अब उसने सोचा मायावी ने कि देखो रात्र में निशाचरों की ताकत ज्यादा हो जाती है और दिन में उनकी ताकत कमजोर हो जाती है अंधेरे में बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं तो एक तो उसके रात्र के समय उसकी ताकत खुद उस समय थी शक्तिशाली और बलवारी लग रहा था दूसरा उसने सोचा कि रात में चलो जिससे कि ये जो बानर बानरों को रात में रकम दिखाई देता है और ये जो चलते चलते हम चलते रहेंगे और बाल निकलेगा नहीं माने लोग अपने जहाँ बैठ जाते हैं तहारा पे बैठ जाते हैं फिर चलते फिरते नहीं और अंधेरे में दिखाई